और हमने मूसा पर वही भेजी कि तुम मेरे बंदों को लेकर रातों रात रवाना हो जाओ फिर उनके लिए समंदर में एक खुश्क रास्ता इस तरह निकाल लेना कि न तुम्हें दुश्मन के आ पकड़ने का अंदेशा रहे और न कोई और खौफ हो